कलिमल समनि मलो हरणी संप्रति सजीवन मोरी राम कथा गा श्रुत सूरी यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत के पंथाना अति हरि कृपा जाए पर हो पाऊंगे मार्ग सोई मन कामना सिद्ध नर पावा यही कथा कपट गावा सुनि अनुमोदन मोहन करहीं देवो पदैव भवन करहीं सुनि सब कथा हृदय भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई नाथ कृपा मम गत संध्या राम चरण उपजो नवनिया मैं कत कृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विशेष उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश सियावरे रामचंद्र की पवन सुत की भगवान शंकर जी पार्वती की कथा सुना रहे हैं उसका समापन हो रहा है उन्होंने कालभूषण गौर संवाद के अंत में बोल दिया पार्वती जी के पूछने पर अब भगवान की भक्ति की महिमा कथा की महिमा भगवान की महिमा उनको बोल करके एक प्रकार से मंगलाचरण मंगलाचरण करने की विधि इस प्रकार के ग्रंथ के प्रारंभ में भी मंगलाचरण ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण दोनों होते हैं रहे हैं तो अंत में जो वो हम के समाप्त के जो मंगलाचरण है वो इस प्रकार से चल रहा है राम कथा गिरजा में बरणी ही कहते हैं पार्वती राम कथा तुमको सुना दी पहले कह चुके हैं कि जैसे हमारी बुद्धि है उस प्रकार से सुना दिया कथा तो अनंत है उसका पार नहीं लेकिन जितनी बुद्धि में आई उतनी कथा सुना दी कलिमन समनी और मनोमन हरिणी ये कल, कलमल का समन करने वाली है और मन की मलिनता को दूर करने वाली है बाह्य और आंतरिक दो व्याधियां हैं कलयुग है तो वातावरण आसपास का सामाजिक वातावरण विपरीत वातावरण है कलुषित वातावरण है उसका कलयुग है अब उसकी कोई शिकायत करे कि साहब ऐसे आदमी ऐसे आदमी हमसे ऐसे बोलते ऐसे करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा अरे तू तो कलकाल है ही है इसमें कौन सी नई बात जो ये नहीं जानते कि कलयुग है वो तो इसकी शिकायत करें और ये सब न हो तो फिर कलकाल कहाँ से और कलकाल का क्या रूप है अगर सब लोग सज्जन हो सात स्वभाव हो धर्मात्मा हो उदार हो क्षमाशील दयाशील कन्न धान सब हो सब व्यवहार करने वाले सब लोग समाज में आसपास मिले तो कलयुग है हाँ? कलयुग का तो कलयुग तो है ही समाज में लेकिन कहीं समस्त फैला हुआ है तो जो लोग भगवान के भक्त हैं भगवान की कथा सुनते रहते हैं सुनाते रहते हैं उन पूर्व के आसपास एक कवच बन जाता है कवच जिस पर केस कलिमल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता वो तो सुरक्षित रहते हैं कलयुग में रहते हुए भी कलिमल से दूर रहते हैं ये कथा उनके कवच का काम करती है कक्षा का काम करती है जो लोग इस कथा को नहीं सुनेंगे या अध्यात्म विद्या में प्रवेश नहीं करेंगे उसका आश्रय नहीं लेंगे उनको क्या होगा तो कलिकाल उनको खा जाए उनको इतना हला काम करेगा जो हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे ये कलयुग का प्रभाव होगा कलयुग से छोड़ता नहीं है इसलिए कहते हैं कलिमल समन ये बहुत बड़ी विपत्ति है कलिकाल की आई हुई इसकी रक्षा करने वाली भगवान की कथा ही है और मनोमन हरणी अपने आंतरिक विकार है हमारे मन में राग द्वेष काम क्रोध आदि जो विकार है ये मनोमन है ये जितने मानसिक रोग बताया है वो सब मनोमन है इनको भी दूर करने वाली कथा है कथा को अगर आदर पूर्वक सुनते रहे जो उसमें शिक्षा दी गई उस पर ध्यान देते रहे और उसे सही मानते रहे मैंने मतलब श्रद्धा पूर्वक समझे कि जो शास्त्र में कहा गया वो सत्य है तो फिर वो मनोमलों को दूर कर देंगे विकार दूर करेंगे जैसे कि पहले कहा है कि गुरु जो है वो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और फिर कहा कि श्रद्धा हाँ, वो जो है उसमें अनुपान श्रद्धा बच पूरी श्रद्धा के साथ में कथा को सुने तो फिर वहाँ जो हो एक प्रभाव डालती है कथा और मानसिक रोगों को दूर कर देती अधिकांश होता ये कथा सुनते रहते हैं लेकिन जहाँ जहाँ कथा में इस प्रकार की बातें आती हैं कि जैसे कि किसी की निंदा स्तुति मत करो निंदा स्तुति करना ठीक नहीं तो बुद्धि लोगों की सुनने वाले लोगों की श्रद्धा पूर्वक स्वीकार नहीं करती कि हाँ हम अभी चतुर्थी गलती करते रहे निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए त्याग देने की बुद्धि नहीं आती क्या आएगी निंदा स्तुति तो करनी ही पड़ेगी व्यवहार कैसे चलेगा और बिल्कुल सत्य बात है निंदा स्थित नहीं करेंगे तो सत्य बात नहीं होगी मैंने वो कुतर किस प्रकार के ये है शास्त्र के विरुद्ध कुछ न कुछ बुद्धि सोच लेगी और निंदा इसको जरूर करेगी कहीं वो तो हो ही नहीं सकता निंदा परमात्मा का निरंतर स्मरण करो कथा में आएगा कि भाई सतत भगवान का चिंतन करो निरंतर उनका नाम जपते रहो कहा निरंतर भगवान का नाम जब दुनिया काम है कुछ ना करो वो मर जाओ बस ऐसी बातें अपनी बुद्धि बोलती रहेगी मन श्रद्धा पूर्वक समझेगी परिणाम ये होगा कि कथा में जो प्रभाव आना चाहिए बुद्धि के ऊपर दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देगा नहीं ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कथा पढ़ते भी रहते हैं रोज पाठ करते हैं या सुनते रहते हैं या कहते रहते हैं तो भी उनके ऊपर अगर प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई देता तो उसमें कथा का दोष नहीं है दोष सुनने वाले के उसके दृष्टिकोण का है तो किस विचार से सुख सुन रहा है कैसे उसकी भावनाएं है भाव सहित पीछे गया है कि भाव सहित इस कथा भी जो सुने तो दृष्टि पर प्रभाव है इसलिए गरीमन समन मनोमन हरणी और संस्कृति रोग सजीवन मूरी भवरोग के लिए तो ये संजीवनी बूटी की तरह से है मैंने भवरोग क्या हो गया जन्म का जो चक्र है या व्यक्ति जो है वो अहंता और ममता रूपी और राग द्वेश रूपी जो अपनी मानसिक सृष्टि रचे हुए है वो उसका संसार है जिसमें कि वो पड़ा हुआ व्याकुल हो रहा है दुखी हो रहा है इस संसार से छुटकारा पाने के लिए ये इस रूप से छुटकारा पाने के लिए ये भगवान की कथा जो है ये है संजीवनी मूर्ति की तरह से है संजीवनी मतलब प्राण जीवन प्रदान करने वाली मतलब मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे वो संजीवनी मूर्ति माने जो लोग इस प्रकार से विकार क्रोध आदि के विकारों में पढ़ करके माया मोह के जाल में पढ़ करके असाध्य हो गए हैं ऐसे रोगी हो गए हैं ऐसे दुर्बल हो गए हैं कि जिनमें घंट मात्र भी साथ नहीं रहेगा केवल होते रहना ही उनका एकमात्र आश्रय रह गया है उन लोगों को भी ये कथा जीवन दान दे सकती है फिर तो उनके दुखों को दूर कर देगी फिर शक्ति प्रदान करेगी फिर उत्साह आ जाएगा ऐसी कथा है राम कथा गाँव सूरी श्री के भगवान की कथा ऐसी है श्रुति सूरी ऐसा ही गाते हैं श्रुति माने शास्त्र शास्त्र सब ऐसा ही कहते हैं और सूर्य के माने विद्वान सूर्य संस्कृत का शब्द सूर्य है आता रहता है ये जैसे भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्य से तो नियादितता उसमें भी यही शब्द आता है सूर्य का मैंने विद्वान तो कहते नाम कथा का वही सत्य सूरी विद्वान लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि राम कथा की महिमा है शास्त्र यही कहते हैं कि यही कथा की महिमा है मारुचर सप्त सोपाना सोपान के माने इसमें सप्त सोपान बहुत सुंदर सात सीढ़ियां हैं सोपान माने सीढ़ी अब इसका स्मरण दिलाते हैं बालकांड में जो मानस का वर्णन किया वहाँ कह आए हैं किसी प्रकार के ये मान सरोवर एक सरोवर है और जिसमें चारों तरफ सीढ़ियां हैं और वो सीढ़ियां जो है वो ऊपर से नीचे तरफ तक जाती है उस जल तक तो वे सीढ़िया सात सीढ़िया है हम्म, वही सात सीढ़िया सात सीढ़िया के मैंने इसमें सात अध्याय है एक अरुचर सप्त सांसद तांत्रिक मानव के जो सात अध्याय है मानव वो सात सीढ़िया है जो क्रम क्रम से व्यक्ति को परमात्मा तक पहुँचा देती है मानसरोवर का जो जल है वो ब्रह्म तत्व है परमात्मा है <clears throat> वहाँ तक ये कथा जो है परमात्मा तक पहुँचा देती है और रघुपत भगत के पंथाना और ये भगवान भगवान के पंथ का मार्ग है ये कथा जो है वो राजमार्ग है पंथाना कह पंथ नहीं पंथाना कह करके बता दिए तो राजमार्ग है बहुत बड़ा मार्ग है ये जिसमें इस मार्ग पर बहुत लोग चलते हैं मन संसार में अधिकांश लोगों के लिए ये भक्ति मार्ग ही है उपासना मार्ग ही है इसलिए इसको राजमार्ग कहते हैं ये भगवान की भक्ति तक पहुंचने वाला मार्ग है इस मार्ग पर चलते रहते भगवान की कथा सुनते सुनते उनका नाम जपते जपते व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है भक्ति मानव जीवन की अंतिम अंतिम मंजिल है अंतिम पड़ाव है जहाँ पहुँच गए तो उसके आगे और कहीं नहीं जाना है व्यक्ति में पूर्णता आ गई और उसमें सारे गुण भी आ गए सारे दुख भी दूर हो गए विश्राम भी मिल गया शांति भी मिल गई आनंद की भी प्राप्त हो गई सत्य भी आ गई कृतकृत भी हो गए ये सब उस अवस्था में प्राप्त होकर के पहुँच करके ये सब प्राप्त हो जाता है अति हर कृपा जाही पर हो कहते हैं जिस पर की भगवान की बहुत कृपा होती है पाम दे है मार्ग सोई वही इस मार्ग पर तय रखता है ये मार्ग मने ये अध्यात्म मार्ग उपासना मार्ग भगवान की कथा का मार्ग ये मार्ग है ये बड़ा दुर्लभ है जब भगवान की कृपा हो उन्हीं को प्राप्त होता है कहते शास्त्र कहते हैं कि देखो यद्यपि ये कथा सर्वत्र प्रकट है यद्यपि अध्यात्म कहीं छिपा नहीं सब जानते हैं सबके सामने खुलासा रखा हुआ है सब शास्त्र भी से रखे हुए हैं पुस्तकें भी हैं सब भाषाओं में लिखी हुई हैं सब भाषाओं में इसको बताने वाले लोग भी मौजूद हैं लेकिन दुर्भाग्य के लोगों को उसमें रुचि नहीं होती और उसको उसको जो है उस, उस रास्ते पर आते नहीं संसार में ये सब देखने में आता जब कहें भाई भगवान की भक्ति इतनी महान है इतनी सुंदर महिमा इसकी है कि व्यक्ति को और क्या चाहिए भक्ति आ गई तो सब कुछ आ गया तो फिर सब लोगों को इसी भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए क्यों छोड़ देते हैं क्यों भटकते हैं तो कहते बस भगवान की कृपा नहीं समझो अरे भगवान का पक्षपाती कृपा नहीं करते तो उसके लिए समस्या आती है ये तो भाई भगवान भी उसके ऊपर कृपा करते हैं जिसने पुष्ट पुण्य हो पूर्व पुण्य हो तो कृपा करे अब पूर्व जीवन के कोई पुण्य नहीं है तो भगवान भी क्या कृपा करते हैं और नहीं भी पुण्य होते तो कभी कभी कृपा कर ही देते हैं मनुष्य शरीर ही दे दिया यही कृपा कर दी भगवान हम्म, अब थोड़ा बहुत व्यक्ति अपना प्रयास भी करे तो इस मार्ग पर आवे पर रघुपति भगत के पंथाना और अति हरि कृपा जाही पर होई काम दे मार्ग सोई कहते मन कामना सिद्ध नर पावा फिर इसमें इस भगवान की भक्ति प्राप्त हुई तो जो व्यक्ति की जो मनोकामनाएं होती है सब पूर्ण होती है मनोकामना सिद्धि नर पावा कामनाएं नहीं है कामना है और मनुष्य की एक ही कामना है और वो है सुख व्यक्ति सुख मात्र चाहता है तो बस मनुष्य को सुख प्राप्त हो जाएगा समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी दुख तो जैसे मृत्यु का भय वही एक दुख है तथा वो भी छूट जाएगा जन्म मृत्यु का दुख है वो भी छूट जाएगा जो मनुष्य इस प्रकार से जिस सुख को चाहता है वो सुख से प्राप्त हो जाएगा मन कामना सिद्धि नर पावा और जे ये कथा कपट तरीकावा जो इस कथा को कपट छोड़ करके गए सब कपट कहाँ से आ गया कथा में कपट आ गया अपनी विद्वत्ता दिखाना ये कपट आ गया अहंकार दिखाना ये कपट आ गया या कुछ धन की आकांक्षा से कथा सुनाना ये कपट आ गया हम्म, तो ये कपट नहीं सीधी सीधी बात इस कथा के द्वारा भगवान की भक्ति और विश्राम शांति प्राप्त करनी केवल इसलिए कथा सुनावे और इसीलिए कथा सुने तो फिर उसका यही फल प्राप्त होगा और जो लोग धन के लिए कथा सुनाएंगे उनको धन प्राप्त होगा जो यश के लिए कथा सुनाएंगे उनको यश प्राप्त होगा ये तो कथा जो है मणि की तरह से है जहाँ मणि के शेष जो मांगो वही मिलेगा जो कामना रखो उस तरह की प्राप्ति होगी भावना के अनुसार ही फल भी होता है जिस भावना से आप कथा सुनेंगे कहेंगे और तो वही फल मिलेगा कथा को उपेक्षा भाव से सुनेंगे सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे मणि ही नहीं उसमें लगावेंगे तो कोई फल नहीं प्राप्त होगा उपेक्षा भाव से सुनत फल कैसे प्राप्त हो कान में भीतर जाएगी नहीं मन के भीतर पहुंचेगी नहीं वहां जाकर उसको कोई प्रभाव होगा ही नहीं ऐसे ये हो गया तो ये कहते मन का मना सिद्ध नर पावा ये ये कथा कपट पर जितावा और कहा सुनाई अनुमोदन करही कहा सुनाई जो लोग इस कथा को कहते हैं सुनते हैं अनुमोदन करते हैं ते गोपदेव भवनित करही माने कथा के साथ में ये ऐसा करते हैं कि कहा कथा कही भी जाती सुना सुनी भी जाती दूसरी बात अनुमोदन करें अनुमोदन के माने है समर्थन करना कि कथा सुनाने वाला जो कथा सुनावे और कथा में जैसी बात आवे कथा में अगर बात आवे इस प्रकार से कि देखो कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है सबसे बड़ा धर्म यही है तो कथावाचक का ये क्या कहना है उसका अनुमोदन करें के अनुमोदन करें कि जैसे ग्रंथ में आया है कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है तो उसी का समर्थन करें कि बिल्कुल शास्त्र में सही लिखा हुआ है ऐसा ही है ये न बोले कि हमें तो ठीक नहीं जिसका लिखा जरूर ग्रंथ में है कि परहेज सरे धर्म नहीं भाई लेकिन लिखा है हमारी समझ में नहीं आता तो ऐसी कथा न सुना कथा सुनावे तो उसका अनुमोदन करे और सुनने वाला जब सुने तो सुन करके भी उसका अनुमोदन करे वो क्या कहे कि हाँ बात तो आपने बिल्कुल कही सत्य बात तो यही है हम्म, सुनने वाला भी ऐसे ही है सुनने वाला अनुमोदन नहीं करता है इसके मैंने विरोध करता है जब कथा को सुनेगा और विरोध भाव बुद्धि से सुनेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा कथा सुनाएगा लेकिन विरोधी बुद्धि से सुनाएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा अब बताओ कितनी साफ बातें सब जगह जगह कथा कैसे सुनी जाती कैसे कही जाती वो भी बताना पड़ता है सब बता दिया उन्होंने के कहें सुनई अनुमोदन करही ते गोपद एवं भवनिध तरही भवनिध गोपद एवं तरही के माने ये संसार तो बड़ा भारी सागर समुद्र के समान है जो जल का जितना बड़ा समुद्र इससे बड़ा है अगर समुद्र के समान कहा जाता है संसार सागर तो समुद्र तो इतने हजार मील का है और ये संसार सागर कितना बड़ा है प्रशांत महासागर के बराबर है कि हिंद महासागर के बराबर है कि अरब सागर के बराबर है हाँ, कि मेडिटेरियन सी के बराबर है किसके बराबर है कहते हैं सब सागरों को मिलाओ उससे बड़ा है कितना बड़ा है तो, तो पार करना बहुत मुश्किल है हाँ, बहुत मुश्किल है ये तो इनको तो तमाम जहाजों से पार हो जाते हैं लेकिन इसको पार होने के लिए आसान काम नहीं है बड़ा मुश्किल है इसको लेकिन उसके पार करने के लिए बड़ा आसान भी है ये कथा जो है उसके लिए फिर इतना बड़ा समुद्र समेट करके गाय के खुर के बराबर हो जाए गोपद के बने जैसे बरसात के दिनों में गाय कहीं चले और कच्ची जगह में पैर रख दे तो गड्ढा हो जाए उसी जगह में यहाँ पैर रख दिया गिरी जगह में और वहां पर समेट करके पानी भर गया तो एक वो भी समुद्र बन गया हम्म, गोपद सिंह हो गया गाय की खुर के बराबर का समुद्र और गाय के खुर के समुद्र के बराबर उस आदमी आदमी लोग उसको कैसे पार कर जाते हैं एक पैर इधर रखा दूसरा पैर उसको उधर रख दिया परवाह भी नहीं करते कि उसमें एक गड्ढा है बीच में और चले जाते हैं मैंने बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं इतना ये इसी प्रकार से संसार सागर जो बड़ा दुस्तर है बड़ा विस्तार है वो भी भगवान की कृपा से कथा सुनते सुनते व्यक्ति आसानी से हंसते खेलते पार कर जाते तो खड्डानंद जी कथा सुनाते हैं चाहे गीता सुनावे चाहे रामायण सुनावे कहते हैं देखो भाई ये संसार सागर को तो पार सबको करना है चलो हंसते खेलते पार करो हंसते खेलते पार करो अपने कथा सुनते जाओ चुटकुले सुनते जाओ कथा सुनते जाओ और इसको पार करते चले ऐसे गोपद एव भवनित तरही और सुन सब कथा हृदय भाई अब इतना कह करके असमानो भगवान शंकर जी चुप हो गए तो आप कहते हैं कि सुन सब कथा हृदय अभी भाई और गिरिजा बोली गिरा सुनाई माने पार्वती जी को ये कथा बहुत अच्छी लगी पार्वती ने सब कथा सुनी और हृदय भाई उनको हृदय में ये कथा बहुत अच्छी लगी कि ये तो कथा बहुत अच्छी है अब पार्वती जी ने उसके अब कृतज्ञता व्यक्त की जैसे कालभूषण जी ने कथा सुनाई जब तो उन्होंने अपनी बार बार कृतज्ञता व्यक्त की तो गरुड़ की कृतज्ञता तो बहुत विस्तार के साथ वर्णन कर दी लेकिन अब उस कृतज्ञता का वर्णन जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है वो संक्षेप में करते हैं संक्षेप करते जाते हैं धीरे धीरे बात वही बार बार रिपीट करनी वही कृतज्ञता उसी तरह से व्यक्त करना है तो उतना विस्तार नहीं कर देते संक्षेप करते जाते हैं तो अब कहते हैं कि सुनी सब कथा हृदय अत भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई इसके माने ये बात कौन बोल रहा है न शंकर जी बोल रहे हैं और न पार्वती जी बोल रहे हैं है? अब कोई वक्ता कोई और ही है वो वक्ता आगे आ जाता है याज्ञवल्क याज्ञवल्क भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार से शंकर जी ने सब कथा सुना दी तो पार्वती जी को बहुत अच्छी लगी और पार्वती जी क्या बोली कि नाथ कृपा मोहम्मद गत संदेहा अब पार्वती जी कहती है कि हे कृपा निधान और हमारा संदेह सब दूर हो गया मैंने कथा के प्रारंभ से मिलाओ जहाँ कथा प्रारंभ हुई थी बालकांड में और पार्वती जी के अनेक प्रश्न थे उन प्रश्नों में ये भी था कि यद्य मुझे पहले जैसा संदेह नहीं है लेकिन अब भी हमें थोड़ा ये लगता है कि भगवान कैसे इस प्रकार की लीलाएं करते हैं वो तो हमें समझाइए तो वो जो संदेह इनका था पार्वती जी का कहते अब बिल्कुल संदेह चला गया और रामचरण उपजे नवनिहा और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया अब देखो ये दोनों बातें साथ साथ लगती हैं कारण नियम इसमें लगता है अगर व्यक्ति को संदेह है तो भगवान के चरणों में अटल प्रीति नहीं होगी अटल प्रीति है तो इसके माने तो उसको संदेह नहीं है बहुत लोगों को जब वो लगता है कि नहीं हमें तो पूरा विश्वास है पूरा विश्वास है अगर पूरा विश्वास है तो चित्त निरंतर परमात्मा में क्यों नहीं लगा रहता क्यों दिनजाल की बातों में पड़े रहते संसार के प्रपंच में क्यों पड़ते चित्त को लगाओ परमात्मा में क्यों नहीं लगा रहता अब दोनों चित्र परमात्मा में लगे तो इसके माने इसमें होना चाहिए कि उसमें संदेह नहीं होना चाहिए भ्रम दूर हो जाना चाहिए संदेह दूर हो जाना चाहिए तब ऐसा होगा नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजेव तब नेहा नव नेहा अब भगवान के चरणों में नव नेह उत्पन्न हो गया ये नव ने उसी प्रकार से जैसे गरुड़ ने कहा था पीछे की बातें याद रखेंगे तो मिला है गरुड़ ने भी कहा कि हमें फिर से उपजी प्रीति हाँ, नई प्रीत उपजी इस प्रकार से उन्होंने कुछ कहा था उसी प्रकार से यहाँ रामचरण उपजीव नेहा मैं कृत कृत भय ये पार्वती जो कुछ कह रही है उनके गरुड़ के वचनों से मिलाएंगे तो समान आर्थक बात मिल जाएगी उसी प्रकार वही गरुड़ ने कहा उसी प्रकार से पार्वती जी कह रही मैं कृत कृत भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश हे विश्वेश हे विश्वनाथ भगवान आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई मुझे कृतता आ गई कृतार्थता आ गई मैंने कथा सुनने के बाद अब कुछ करना शेष नहीं कुछ पाना शेष नहीं परमानंद की प्राप्ति हो गई उपजी राम भगत दृढ़ भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेत भगवान राम के चरणों में और बीते सकल कलेश और सब कलेश भी मिट गए अब बार बार कहते रहते हैं इसके माने भगवान का नाम भगवान की कथा भगवान की भक्ति और सत्संग इन सबकी जो सबका फल क्या है सबका यही फल कि बस सारे क्लेश मिट जाए सुख प्राप्त हो जाए शांति प्राप्त हो जाए कृतिकता आ जाए तो उसी का वर्णन करते रहते हैं इनकी सबकी प्रशंसा करते रहते हैं सत्संग की भगवान के नाम की कथा की है हाँ, इनकी सबकी प्रशंसा होती रहती है महिमा और उनका फल बताते रहते हैं उनका सबका फल ये है तो फिर यहाँ पर बता दिया कि इसका फल हमारे देख रहे माता मानी ये कोई अज्ञात बातें नहीं है जैसे गरुड़ ने अपने जीवन में इनको सार्थक पाया कहा कि हाँ जैसा इसकी महिमा कही जाती ऐसी है हम अनुभव करते हैं तो अंत में ये भी है स्वानुभूति भी कही जाती है स्वानुभूति गरुड़ ने अपनी स्वानुभूति कही काभूषण जी ने भी स्वानुभूति कही सिद्धांत की बात तो कही कि जैसे इस प्रकार से फिर अपने बताते हमको भी इससे विश्राम मिला हमसे हमको भी इससे शांति मिली काकुषण ने भी कहा कि देखो कहा हम कैसे कैसे हमारी जो दशा थी और कहाँ से हम इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई तो कैसा आनंद हो गया कैसी महिमा प्राप्त हो गई तो कागुषम ने भी कहा गरुड़ ने कथा जब सुनी तब गरुड़ को भी बड़ी गति प्राप्त हो गई तो उसकी अपनी आंतरिक दशा का उन्होंने गरुड़ ने भी वर्णन किया ऐसे यहाँ भी वर्णन करते हैं कि पार्वती जी भी कहते हैं कि देखो कथा सुनते सुनते जिस शांति चाहिए वैसी मिल गई अब कोई प्रपंच नहीं कोई झंझट नहीं कोई समस्या नहीं सब विश्राम हो गए बीते सकल कले सब क्लेश बीत गए अब सब क्लेश किसी बीत गए बस सब क्लेश तो बीत गए लेकिन लोग हमारे साथ जो विरोध करते हैं झंझट करते हैं बस वही एक समस्या नहीं ऐसे थोड़े होता है लोगों की झंझट हमारे साथ है झगड़ा करते हैं उनसे बस वही एक बात है वो और दूर हो जाए जो देखो वही हमसे झंझट करता है जो देखो वही हमारा विरोध करता है किसी से हमारी नहीं बनती बस एक बात रहेगी ऐसा नहीं होता पीछे सकल चले देवी क्या कर सबके साथ सोमनस्य सबके साथ प्रेम कहीं किसी से कोई विरोध नहीं कहीं किसी प्रकार का कोई दुख नहीं कहीं कोई संकट नहीं कहीं कोई समस्या नहीं सब समाप्त हो पूछो भाई कोई समस्या किसी भक्त से पूछो तो तुम्हारी क्या समस्या की क्या समस्या कुछ समस्या अब देखो इसके बाद जो ये अब यहाँ से पार्वती जी ने जो कुछ कहना था वो कह दिया अब याज्ञवल की की कथा सुनो यह शुभ शंभु महासंवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जनरंजन सज्जन प्रिय राम उपासक जे जग माही तुम प्रिय नहीं प्रिय दिन के कछुनाही रघुपति कृपा जथा मति बाबा मैं यह पावन चरित सुहावा यही कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरी गाई राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम जासु पतित पावन बल पाना गाम ही कब सुख संत पुराना आई भजई मन तज कुटिलाई राम भजे गति कही नहीं पाई पाई न की गति पति पावन राम भज सुन सठ मना गणिकाय जा मिल प्याद जी दिगजारी कल तारी घना महावीर जमन चिरात खस पसाद यति रूप जे कई नाम बारक ते पावन हो राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित नरिकाई काई सुनई जिगावई गली मन मनोमल धोई बिन श्रम राम धाम सिधावई सत पंच पाई मनोहर जान जो नर उदर दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे सुंदर सुजान कृपा निदान नाथ कर प्रवृति जो सोए करामय कामहित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरहु विषम भव वीर स्वामी नारी प्यारि में लोभी प्रिय दाम